ने गुरु जी के कपट को देख लिया तो तत्काल लेकर के खड़ तलवार निकाली और उनके तीनों सिर काट और जिससे सोमपान करते थे उससे पपिया उत्पन्न हुआ और जो शराब जिससे पीते थे उस कलविंग के नाम का पक्षी हुआ अन्न जिससे खाते थे उस सिर से पीतर पैदा हुआ और को जो ब्राह्मण थे ब्रह्म हत्या आंदोलन एक वर्ष के बाद उन्होंने इस ब्रह्म हत्या को चार जगह बांट दिया चतुर्धा विगज्य पृथ्वी को जल को वृक्षों को स्त्रियों को चार जगह उन्होंने ब्रह्म हत्या को अपनी शुद्धि कर ली और जब विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा उनको पता चला कि अरे देवताओं ने हमारे पुत्र को पहले आचार्य बना लिया और फिर इन्होंने उसका बदली कर दिया तो वो तुष्टा तुष्टा जो थे पुत्र नाशम श्रुत्वा उनको बड़ा क्रोध आया ये देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं पहले अपने स्वार्थ के लिए हमारे पुत्र को आचार्य बना लिया और फिर उसका बरकत दिया ना उन्होंने फिर एक खगन किया चुरवा लेकर और इंद्र शत्रुर विवर दस्तो मंत्रे होमन सका इंद्र शत्रुर विवर दस्तो लेते हैं आहुति लेकर के अग्नि में और इसमें स्वर में थोड़ी गड़बड़ी होगी तो चाहते तो ये थे कि इंद्र को मारने वाला इंद्र शत्रु इंद्र का सातय था इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो जिस इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है तो इसको मारने वाला पुत्र होना इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो और बहुपरी समास होने से यह अर्थ हो गया इंद्र है शत्रु जिसका इंद्र है मारने वाला जिसका ऐसा अर्थ उल्टा हो गया इंद्र को मारने वाला नहीं इंद्र है मारने वाला जिसका ऐसा उत्पन्न हो गड़बड़ हो गई अब तो उसमें से बड़ा भयंकर एक राक्षस वृत्तासुर उसमें से प्रकट हुआ हाथ में त्रिशूल लेकर के पृथ्वी को पकाता हूं उस भयंकर राक्षस को देख करके के तो देवता डर गए देवता खिन्न होकर के भगवान की शरण में पहुंचे देवता कहने लगे हे भगवान हम ब्रह्मादिक सब आपकी शरण में आप हमारी रक्षा करें अब स्मृतांतम परिपूर्णताम श्रेणैवलाभेन समम् प्रशान्तम् विलोकसर्पत्यपरम् विबालिशः पराम् सिंहम् देवता लोग भगवान के दुखी होकर के डर करते हैं से डर करते हैं भगवान की स्तुति कर रहे हैं क्या कहते हैं अविस्मितम सबसे पहले भगवान को कहा अविस्मितम आपको किसी घटना से आपको आश्चर्य नहीं होगा विस्मय नहीं होगा हम तो कोई घटना देखते हैं तो आश्चर्य होता है अरे ये बात कैसे हो गई ये घटना कैसे हो और कहते हैं भगवान को कभी आश्चर्य होता है न कम उसको कभी विस्मय होता ही अविस्मृतम तम परिपूर्ण कामम और जिनकी इच्छाएं सदा पूर्ण रहती हैं भगवान को कुतो कर्म की इच्छा होती है क्यों तो सोई लाभे न समम प्रशांतम अपने आत्मलाभ से ही वो पूर्ण है ऐसे परमात्मा को छोड़ करके जो दूसरे की शरण ग्रहण करता है उसे ऐसे समझना चाहिए कि कुत्ते की पूछ पकड़ के और समुद्र को पार करना चाहते हैं अरे भगवान का सहारा छोड़ करके या उसका सहारा लेना ऐसा है क्या क्या कुत्ते की पूछ पकड़ कर तुम समुद्र के पार जा सकते हो दिनोपसर्पत्य परम दिवालिश स्वलांगुलेना किति तर्क सिंधु नमस्ते यज्ञ वैसे वैसेवते नम नमस्ते यत्राय नम सुपुरु सुपुरूत भगवान की स्तुति की पद्यात्मक गद्यात्मक नमस्ते स्त भगवान नारायण वास कृष्ण कृष्णान भाव परम मंगल परम कल्याण परम कारणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकैरी परमहंस परमेणात्म योग समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस धर्मेण धर्मेणोद्घाटित द्वारे चित्ते अपावृतात्मलोके स्वयं उपलब्ध निःसुखानुभव सुखानुभवो नमस्ते नारायण वासुदेवाद पुरुष महानुभाव हे वासुदेव हे महापुरुष हे महानुभाव हे परम मंगल हे परम कल्याण हे परम कारुणिको ओ जगदाधार ओ लक्ष्मीनाथ भगवान की स्तुति की ओ भगवान प्रसन्न और सोलह पार्षदों के सहित भगवान उनके सामने प्रकट हुए देवता देवताओं ने भगवान का दर्शन किया और फिर भगवान प्रसन्न होकर के बेले बोले अरे हो देवताओं देखो यदि तुम ये वृत्रासुर का अगर बच चाहते हो और देखो ये दधीची महर्षि के पास चले हे इंद्र दधीची ऋषि लगवा वीरम जाकर दधीची ऋषि के पास जाकर के उनका शरीर उनसे मांग लो उनका उनका नाम एक अश्वसिर भी है गदेशी महर्षि का नाम है अश्वसिरा अश्वसिरा उनका नाम क्यों था उसको आता है महाभारत में उसकी कथा है कि एक बार अश्विनी कुमार दधीजी महर्षि के पास आए प्रणाम किया दधीजी महर्षि बोले कैसे आए महाराज हमको आत्मज्ञान का आप उपदेश कीजिए दधी जी महाराज जी बोले कि भाई आज तो हम कार्य में व्यस्त हैं तुम कल आना फिर आना हमारे अश्विनी कुमार लौट के चले गए उसके बाद में इंद्र आए और इंद्र ने कहा कि ये हमारे वैद्य हैं अश्विनी कुमार तो देवताओं के वैद्य और वैद्य जो है वो आर्थ जीवी होता है दुखियों से उसकी जीविका होती है ये आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं है तुम इनको आत्मज्ञान का उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दू जी ऋषि को धमकाया इंद्र ने कि तुम इनको उपदेश करोगे इनको उपदेश करोगे तो हम तुम्हारा सिर काट दें और उसके बाद दूसरे दिन लोग अश्विनी कुमार आए उन्हें कि महाराज अब हमको उपदेश कीजिए दधीची ऋषि बोले रहे इंद्र तो हमारा सिर काटने को कह गया अगर हम तुमको उपदेश करेंगे तो इंद्र हमारा सिर काट देगा अश्विनी कुमार बोले तो महाराज आप उससे मत कर हम आपका सिर पहले काट के रखेंगे को दूसरे सिर से उपदेश कर दो वो काटेगा तो इंद्र उसी सिर को तो काटेगा तो उन्होंने अश्विनी कुमारों ने एक घोड़े का सिर ला करके वो अश्विनी दधीसी महर्षि का वो सिर काट कर तो रख लिया सुरक्षित और एक घोड़े का सिर लगा दिया उनको और कहा इस सिर से हमको उपदेश कर दो और दधीसी महर्षि ने घोड़े के सिर से उनको उपदेश कर दिया इसलिए उनको उसका उनका नाम हो गया अष्ट सिरा कि अश्व का सिर भी लगाया गया और इंद्र आया तो इंद्र ने वो सिर काट दिया जिससे उपदेश किया अश्विन कुमार आए उनका आश्री सिर लेकर के गदी जी का फिर जोड़ गए तो सर्व चिकित्सा पहले कम नहीं थी बहुत लंबा पहला से बिला जोड़ दिया उससे अपना ज्ञान प्राप्त कर लिया और काट दिया वो कल फिर जोड़ गया जी ऋषि गत्वा तत्व संयम याद भगवान देवताओं से कहा जाओ दधी जी ऋषि के पास चले जाओ का शरीर मांगो और उनके शरीर में जो हड्डियां हैं उपासना तो करके ऐसी दृढ़ हो गई हैं उनका वज्र बनेगा <clears throat> विश्वकर्मा उसका वज्र बनाएगा और उससे फिर ये जो वृत्रासुर है उससे उस वज्र से मारा जाएगा भगवान ने कहा तो इंद्रादित देवता सभी की महर्षि के पास गए दधीच महर्षि ने देखा आज देवता मेरे यहां कैसे आ रहे हैं दधीच महर्षि ने उठ करके उनका स्वागत किया और सारे देवताओं कैसे यहां पर आ रहे मोद मानव वाकोगन तो प्रयत्न देवा देवताओं ने कहा महाराज हम भगवान के लीजिए आए क्या बात है कि हम आपका शरीर मांगना चाहते हैं आपके शरीर की हमको आवश्यकता है अपना शरीर आप हमको दे दो जी महर्ष जी बोले देवताओं तुम बड़े बोले वाले हो तुम ये नहीं जानते कि प्राणियों को अपना शरीर कितना प्यारा होता है मरने से प्राणी कितना डरता है तो स्वस्थ चेतना जिजी विषुनाम जीवानाम आत्मा प्रेष्टयेत्सिता क उत्तरेत तंगात्म भिक्षमाणा विष्णवे अरे कुश्ती अपना शरीर नहीं छोड़ा छोड़ना चाहता एक कीड़ा भी अपने शरीर को नहीं छोड़ना चाहता और तुम हमसे शरीर मांग लिया है